संख्या छाछठ आरंभ हो रही है सियाद एतत इतना बक्षमान निवृत्त प्रसवाम उन्होंने कहा तेन निवृत्ति प्रसवा अर्थ वसात सप्त रूप विनिवृत्ताम अर्थ के वसात उन्होंने अर्थ का अर्थ किया था अर्थ के वसात क्या है जो उसके सात रूप है वो निवृत्त हो गए एक ज्ञान बचा बाकी जो थे सात धर्म धर्म ज्ञान वैराग ईश्वर न ईश्वर इस सब के सब उसके क्या हो गए हैं निवृत्त गया वही लेकर आए निवृत्त प्रसमाम इति नाम रस्यामहे उता संयोग कृतो ही इति उक्तम मैंने पचासवीं कारिका में कहा था इसके पीछे जो पचास नंबर की कारिका है संयोग कृतो एस सर्ग उन्होंने कहा कि यह संयोग से यह सर्ग हुआ आध्यात्मिक प्रकृत उपादान भाग्याख्या ये हुआ उस उसी के यहाँ कहने जा रहे हैं कि जैसे इस कारिका में बताया कि संयोग कृत इत्युक्तम कैब निवृत्तवसमाम इति नाम रस्यामहे आपने कहा कि वह इस समय पर उत्पत्ति धर्म से शून्य हो गई है परंतु यह हमको समझ में नहीं आ रहा है विचार ने क्योंकि आपने कहा था प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है तत्कृत सर्ग संयोग कृता जब संयोग निवृत्ति कैसे होगी यही पूर्व पक्ष बना रहे हैं संयोग कृतो सा इत्युक्तम मन पुरुष का जब संयोग होगा तब सृष्टि होगी और आप कहने वाला निवृत्त प्रसवा है तो कैसे आप कह दे रहे हैं कि वह प्रसव से निवृत्त हो चुकी है हमको समझ में नहीं नमृश्याम है वयम नमृश्याम है हमको ये समझ में नहीं आ रही आपकी बात तो बताने जा रहा संयोग है क्या चीज मान प्रकृति और पुरुष का जो संयोग हुआ है क्या चीज तो संयोग का अर्थ है योग्यता के संयोग योग्यता का नाम यहाँ क्या है संयोग माने संयोग की निवृत्ति होने पर संयोग की योग्यता रह सकती है इसी तो कह रहे हैं योग्यता च संयोग पुरुष का चैतन्य धर्म क्या है भोक्तृत्व योग्यता च पुरुष से चैतन्यम पुरुष का चैतन्य क्या चीज है इनके यहाँ कि वह भोक्ता बन जाना यही जो योग्यता पुरुष में आती है यह पुरुष की है चैतन्यता भोक्तृत्व भाव को प्राप्त होना पुरुष का नाम है चैतन्य प्रकृति को जड़ क्यों कहते हैं कि उसमें रहती भोग्यत्व योग्यता भोग्यत्व योग्यता का नाम जडत्व भोक्तृत्व योग्यता का नाम है चैतन्य और संयोग का नाम है योग्यता जो संयोग है उसका नाम क्या योग्यता है वह योग्यता कहाँ रहती है भोक्तृत्व योग्य योग्यता पुरुष में रहती है और भोग्यत्व योग्यता किसमें रहती है प्रकृति में जिस दूसरे शब्दों से कहते हैं जडत्व उसी का नाम है और क्या कहते हैं विषयत्व चा ना चा एतयोर अस्थि निवृत्ति इसी योग्यता का नाम संयोग है या मुक्ति होने पर भी उस पुरुष में भोक्तृत्व योग्यता रहेगी और प्रकृति में क्या रहेगी भोग्यत्व योग्यता रही तो कैसे वह निवृत्ति प्रसवा कैसे हो गई वह तो निवृत्ति प्रसवा नहीं होगी आपने कहा था निवृत्त प्रसव शब्द से लेना है कि वह जो भोग विवेक साक्षात्कारु लेना है उसी पर ये कहने जा रहे हैं कि यह जो योग्यता का नाम संयोग है वह जो योग्यता रूप जो संयोग पुरुष में कौन सा रहता है भोक्तृत्व योग्यता रूप संयोग रहता है और प्रगति में भोग्यत्व योग्यता रूप संयोग रहता है यह मुक्ति उत्तर काल में भी रह सकता है इसके उसकी निवृत्ति दोनों संयोगों से नहीं हुई तो कैसे आपने कहा कि वह संयोग शून्य हो गई न चाहिए तयोरस्ति निवृत्ति तयो माने भोक्तृत्व योग्यताया और भोग्यत्व योग्यताया नास्ति निवृत्ति उसकी निवृत्ति नहीं है मैंने संयोग शब्द से लेना योग्यता व चेतन अचेतन जहाँ जो चेतन है उस योग्यता के द्वारा क्या करता है भूंगते हैं चेतना अचेतना भूंगते यही हो भोक्तृत्व योग्यता अवा क्या है अप्रकृति अचेतन है अतः भोग्य हो गया विवेकाख्याति से निवृत्ति होगी तो हो नहीं सकती अतः न चेतरअस्ति निवृत्ति सच करणीय भावाद न निवृत्ति मैंने कुछ करना इसका अभाव करणी मैंने जो करण है कौन कौन करण है तो बुद्धि है अहंकार है ये सब करण है इनकी अभाव से कहोगे उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो कहे न निवृत्ति माने इसमें जो अभोक्तृत्व योग्यता क्यों नहीं रहेगी क्यों करण नहीं है कोई क्यों नहीं लोग भोग्य योग्यता कोई कारण नहीं है तो कहे न न च करणीय अभावात न च निवृत्ति नहीं हो सकती क्यों तत् अन्य करणीयत्व और उसके समान दूसरा कोई करणीयत्व बरता है अतः पुनः पुनः शब्दादि उपभोग जैसे हम लोग बार बार शब्द को करते हैं पुनः नया शब्द आता उसी प्रकार उपभोग करेगा इस संदेह पर लिखने जा आह दृष्टा मया इति उपेक्षको ये कहा दृष्टा हम इति उपरम अन्य पुरुष कहता है मया दृष्टा प्रकृति मैंने प्रकृति को देखा प्रकृति कहती है अनेन अहम दृष्टा इसने मुझे देख लिया अनेन अहम दृष्टा ये कौन कहती है प्रकृति और पुरुष क्या कहता है मया प्रकृति दृष्टा वही दोनों अन्य करने जा रहे हैं दृष्टा मया इति जो उपेक्षा करने वाला कह हमने देख लिया उपेक्षा कर देता आदमी प्रकृति कहती है दृष्टा हम इति मैं देख ली गई इति उपरम उपरम अन्या इति अन्य प्रकृति मैं देख ली गई इसलिए वह उपरम हट जाती है तत् संयोग यद्यप उनका संयोग की योग्यता है वो फलदायी नहीं है मैंने उसमें योग्यता मतलब भोक्तृत्व योग्यता पुरुष में रह जाए प्रकृति में भोग्य तो योग्यता रहने पर भी उस योग्यता का कोई प्रयोजन नहीं है क्या प्रयोजन भोग और अपवर्ग प्रयोजन अब नहीं बचा वही कह रहे हैं योग्यता रहे सत्य संयोग संयोगे पी माने संयोग माने भोक्तृत्व योग्यता भोग्यत्व योग्यता तयो रहने पर भी तयो प्रयोजनम नास्ति सर्ग से सर्ग के लिए ऐसी भोक्तृत्व योग्यता की और भोग्यत्व योग्यता की कोई प्रयोजन माने फल नहीं है वही लिखने करो तो पुनः नाम पौनापन्यन सब जाद उपभोगम प्रकृति कह बार बार प्रकृति शब्द रूप रस गंध का उपभोग करे तो करे प्रकृति परंतु यया विवेकाख्या न करता जिस पुरुष ने जिस प्रकृति ने विवेकाख्याति नहीं की है अतः उसको ये सब भोग आएंगे और एन तु कृता कृत विवेकाख्यातिस्तु सप्तादि शब्दादि उपभोगम न जनयति प्रकृति जिस पुरुष ने प्रकृति और पुरुष का विवेक कर लिया है विवेक के द्वारा अपवर्ग हो गया है उसके लिए यह प्रकृति रूप रस गंध इन भोगों को प्रदान नहीं कर सकती है उन भोगों को वह पुनः पुनः उसको प्रदान क्योंकि उसका अभिमान निवृत्त हो चुका है अविवेक आख्यात निबंधनों ही हम इस संसार में क्यों पढ़े हैं कि उनको विवेक नहीं है प्रगति पुरुष का विवेक न होने से जब अविवेक रहता तभी उपभोग होता मनुष्य को दुख अन्यतर साक्षात्कार होता है यदि हमको विवेक हो गया तो आदमी उदासीन हो जाता है क्या हो जाता है उदासीन वही कहने जा रहे हैं अविवेकाख्याति निबंधनों ही तद उपभोग विवेकाख्याति निबंधनों ही तद उपभोग निबंधना भावे मन अविवेक निमित्त था जब अविवेक चला गया तो अविवेक के कारण ही हमको शब्दादि विषयों का भोग हो रहा था जब कारण नहीं तो कार्य भी नहीं वही कह उपभोगो निबंधना भावे न तद भवितुम अर्हति अंकर इव बीजा भावे एक दृष्टांत रहे हैं जैसे बीज नहीं रहेगा तो अंकुर होगा नहीं होगा अंकुर बीज से जो उत्पन्न होती पहली क्रिया वो क्या अंकुर है तो यदि बीज है तो अंकुर होगा उसी प्रकार यदि अज्ञान मन अविवेक है तो भोग है यदि विवेक नहीं है तो भोग भी नहीं है प्राकृतान ही प्रकृति के होने वाले सुख दुख मोह आत्मान तान प्रकृति में कौन कौन चीज होती है सत्य गुण का स्वभाव है सुख करना रजोगुण का स्वभाव है दुख करना तमोगुण का स्वभाव है मोह प्राकृतान ही सुख दुख मोहात्मन प्रकृति के जो सुख दुख मोह है शब्दादीन जो शब्द रूप रसगन इन्हीं के कारण होते हैं तद अविवेकान उनका जब विवेक नहीं होता है प्रकृति प्रति का विवेक ना होने के कारण मम एते विषया यह मेरा विषय है रूप है रस है गंध है ये सब मेरे हैं ऐसा कौन करता है अभिमान करता है आत्मा आत्मा का तात्पर्य करती प्रकृति आत्मा में आरोप होता है अभिमन्य माना आत्मा किं करूँ ऐसा अभिमान करके आत्मा क्या हो जाता भोगता कहलाता है माने इन सब भोगों को भोगता है एवं विवेकाख्यातिमपि प्राकृति प्राकृतम प्राकृतिम अविवेकादेव आत्मा मदर्था इयम इति मन्यते और जब विवेक आख्याति में जब विवेक आख्याति हो तो क्या जाता है प्राकृतम इमा प्राकृतावल ने क्या लिखा है प्राकृतिम अविवेका देव आत्मा जब आख्याति के उदय के पहले पहले जो प्रकट वाली या अविवेक के कारण ही आत्मा यह मानता है कि यह सब विषय वस्तुएं मेरे लिए हैं यह प्रकृति मेरे भोग के लिए है मदर्था इम प्रकृति कौन चिंतन करता है आत्मा किसके कारण अविवेकात अविवेक के कारण और जब विवेकाख्याति तब नहीं होता उत्पन्न विवेक ख्याति करें जिसको उत्पन्न हो गया विवेक ज्ञान तद असंसर्गान अब उसको संसर्ग नहीं होगा प्रकृति पुरुष का संसर्ग नहीं होगा न शब्दादीन तुम सा पुरुषा अर्हति इस व्यक्ति को भी विज्ञान हो गया है प्रकृति के साथ उसका संयोग भी नहीं होगा और शब्दादि विषयों को भोग नहीं कर सकता शब्दादीन न तुम अर्हति नापि विवेकाख्यातिम प्राकृतिम और न वो विवेक आख्याति पुनः उस विवेक आख्याति प्रकृति को भी प्राप्त नहीं होता दोनों को ततो विभक्त आत्मा इन दोनों से अतिरिक्त हमारा जो मान जो पुरुष है वो क्या करता है स्वार्थम अभिमंत्र अर्ति वो अपने अभिमान करता है अभिमंत्र मन अभिमान करते के लिए प्रवृत्त हो जाता है वही आत्मा स्वार्थम अभी मंतुर अंतुम अर्ति अपना ईमान कर लेगा पुरुषार्थ च भोग विवेक दो पुरुषार्थ है भोग विवेक माने विवेक से जायमान जो अपवर्ग ये दो पुरुषार्थ है तो यहाँ विवेक का मतलब विवेक से जायमान अपवर्ग पुरुषार्थ च भोग विवेक प्रकृत्यारंभ प्रयोजक प्रकृति के आरंभ के प्रयोजक कौन है या तो कैवल्य के लिए प्रकृति प्रवत्ता है कैवल्यार्थम अथवा भोगार्थम दो प्रकृति के प्रयोजन है इस समय पर क्या हो गया है दोनों प्रयोजन उसने सिद्ध कर लिया है ना उसे अब भोग चाहिए ना दोबारा उसे मोक्ष चाहिए वो तो मुक्त हो चुका है एक बार में बार बार नहीं चाहिए वही कह रहे पुरुषार्थ ही चा भोग विवेक प्रकृत्यारंभ प्रयोजक इति अपुरुष अब इस समय प्रकृति के आरंभ के जो प्रयोजक थे अब पुरुष की दृष्टि में दोनों को दोनों अब अपुरुषार्थ हो गए अपुरुषार्थ संतो न प्रकृतिम प्रयोजयता भोग विवेक जो भोग और जो विवेक है तो आप प्रकृति को पुरुष के प्रति अब नहीं लगाएंगे क्योंकि अब वह भोग से भी निवृत्त हो चुका है पुरुष विवेक से भी निवृत्त हो चुका है मैंने विवेक प्राप्त कर चुका है न उसे विवेक प्राप्त करना है न भोग इसलिए विवेक और भोग इन्हीं के लिए प्रकृति प्रवर्तक होती थी अब प्रकृति उस पुरुष के लिए प्रवृत्त नहीं होगी इति प्रकृतिम न प्रयोजयता तदनु इदम उक्तम प्रयोजनम नास्ति से इसीलिए उन्होंने कह दिया इस सर्ग से ने कि इस समय अब कोई सर्ग का कोई प्रयोजन फल नहीं है मुक्त उत्तर काल में अत्र प्रयोजन से क्या लेना है तो वित्पत्ति कहना प्रयोजन मतलब प्रकृति प्रयोजन से क्या लेना वित्पत्ति कह रहे हैं प्रयुजते सर्गित प्रकृति जो सर्ग में सृष्टि की जो रचना करता है उसी का नाम है प्रकृति मान प्रकृति इस पद से जो अनेन प्रयोजनम प्रकृति प्रयोजन का अर्थ प्रकृति तद अपुरुषार्थत्व नास्ती जब उसने विवेक और विज्ञान जो संपन्न है अब दोबारा विवेक विज्ञान को करना नहीं है इसलिए उसे अपुरुषार्थ हो गया अपुरुषार्थ हो जाने के कारण अब प्रकृति उसका कोई फलदायक नहीं है इस प्रकार से हो गया कि एक बार विवेक विज्ञान के उत्तर काल में प्रकृति नव कैवल्यात उसके पास जाती है न भोगार्थ दो ही प्रोजन थे भोगार्थम कैवल्यार्थम न भोग देगी न मोक्ष देगी वो दे हो चुका उसका संपन्न अब आया सड़सठ कारिका का उपक्रम कर रहे हैं क्या दे तद उत्पन्न तत्व साक्षात्कारात मुक्त उसने अब जब सुंदर एक कल्पना कर रहे हैं जिसको ब्रह्म साक्ष मतलब यहाँ प्रकृति पुरुष का व्यक्त व्यक्त का ज्ञान हो गया मैंने विवेक हो गया विवेक के कारण उसको आत्यांतिक एकांतिक कैवल्य की प्राप्ति हो गई उसके बाद तुरंत उसका जब होगा विवेक तो शरीर नहीं रहना चाहिए क्या जाना चाहिए मुक्त होते ही शरीर से मर जाना चाहिए इस पर यह प्रश्न बना रहा है क्या उत्पन्न तत्व साक्षात्कार यहाँ तत्व साक्षात से लेना है व्यक्ता व्यक्त का ज्ञान मन विवेक जिस व्यक्ति को तत्व उत्पन्न हो गया है तत्व साक्षात्कार माने पंचविंश तत्वज्ञ हो गया है जो वो मुक्त हो गया मुक्त से मुक्त हो गया तो अनंतरम एवं मुक्ति जो ही उसको आई तुरंत उसको मर जाना चाहिए अनंतरम एवं तस् शरीर पाता मैंने शरीर नाता उसका शरीर नष्ट हो जाना चाहिए कथम अदेहा प्रकृतिम पश्चेत आपने कहा वो प्रकृति को देखता है जब उसका देह ही नहीं रहेगा तो प्रकृति को कैसे देखेगा देख नहीं सकता है पीछे कह रहा था कि वह बैठे हुए दर्शकों की तरह वो देखता रहता है अब तो जब प्रकृति चली गई उसका शरीर समाप्त हो गया तब प्रकृति को कैसे देखेगा ये प्रश्न कर रहे हैं कथम अदेह मन देह के बिना वह पुरुष प्रकृति कैसे देखेगा अथ किसी ने कहा तत्व ज्ञान होने पर मरता नहीं है अब लोग तत्व ज्ञान है तो मुक्ति नहीं मिलो कह रहा है तत्वज्ञाने पी न मुच्यते ज्ञान होने पर न मुक्ति हो गई तो कर्मणाम अप्रक्षीण तेसाम कुतः प्रक्षय किसी ने कहा तत्व ज्ञान हो गया मुक्त नहीं हुआ क्यों नहीं मुक्त हुआ उसने कहा कर्मणाम अप्रक्षीणत्व अभी कर्म नष्ट नहीं हुए तो हम तुमसे पूछे कि उन कर्मों को कौन नाश करेगा तत्व ज्ञान ने नाश किया नहीं यदि नाश हो गया शरीर नहीं रहेगा और यदि वो तत्व ज्ञान ने उन कर्मों को नाश नहीं किया तो उनको नाश कौन करेगा इसका मतलब हमेशा भोग ही रहेगा तत्व मुक्ति है तो देख नहीं सकता है देखता है आपका कर्म रहोगे तो उन कर्मों को नाश करेगा क्योंकि तत्व ज्ञान ने तो कर्म को नाश नहीं किया यदि कर देता तो कर्म का नाश हो जाता देह नहीं रहता देह है तो कर्म है यदि कर्म है तो फिर तत्व सही तत्व ज्ञान नहीं है ये प्रश्न है अतः कर्मणाम अप्रक्षीण तेषाम कुतः पक्षया उनका कैसे नाश होगा काय भोगात काय भोग से नाश होगा तरी यदि भोग से न तो मोक्ष तत्व ज्ञान ने क्या किया हमारे जब भोगने से ही कर्मों का नाश होना है तो तत्व ज्ञान से लाभ क्या हुआ वही कहने जा रहे हैं हंत भू तत्व ज्ञानम न मुक्त साधनम इसमें तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं है अभी तो कर्म का नाश मोक्ष का साधन है तो आपने पीछे कहा कि व्यक्ता व्यक्त के ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है इति रिक्तम व्यर्थम निरर्थकम वचनम वही कह रहे हैं इति व्यक्ता व्यक्त विज्ञान जन्मना तत्व ज्ञानी नफवर्ग जो आपने कहा व्यक्त हो गया प्रकृति में व्यक्त हो गए सोलह तत्व जितने हैं और अव्यक्त प्रकृति हुई और ज्ञा माने पुरुष इन तीनों के विज्ञान से तत्व ज्ञान होता है तत्व ज्ञान से अपवर्ग होता है यह कहना तुम्हारा व्यर्थ है रिक्तम मिथ्याभूतम रिक्त माने मिथ्या भूत है वचन तुम्हारा तो कह भोगे न चा अपरिसंख्येया कर्माशय प्रचया तो जो भोग है उस भोग के द्वारा जो सुख दुख का जो कर्मा से शरीर वही कह रहे हैं अपर संख्या मान अनंत जो कर्मा से प्रचय शरीर प्राप्ति वाला है अनियत विपाक समय क्षेत्रव्य जिनका कोई समय अभी नियत नहीं कब समाप्त होंगे उनको भोग के द्वारा ही उनको नष्ट करना पड़ेगा तत्व ज्ञान से तो हुआ नहीं इसलिए असंख्य जो कर्म के आशय से होने वाले जो शरीर हैं अनियत विपाक का जो समय है उनका भोगेन क्षयतव्य ततश्च अप, फिर अपवर्ग प्राप्ति होगी ये कहना मनोरथ मात्र है अर्थात कभी भी अपवर्ग मोक्ष मिलने वाला नहीं है भोग करते रहोगे पता नहीं कब क्षय होगा कर्मों का अता पता किसी को नहीं है मनोरथ मात्र मतलब केवल कल्पना मात्र हम लोग सोचते हैं बहुत कुछ वही बाजी कर रहे हैं ततश्च अपवर्ग प्राप्ति इत्यपि मनोरथ मात्रम इत्यत आय से संधि प्रकार सम्यक ज्ञानाधिगमात कारण प्राप्त तिष्ठति संस्कार बसात चक्र भ्रम वद धृत शरीर ये कहने कह रहे हैं कि जब सम्यक ज्ञान हो जाता प्रकृति व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का जब सम्यक तत्व ज्ञान हो जाता है तब क्या हो जाता है धर्म आदि नाम अकारण प्राप्त हो तो ये धर्म अधर्म यही शरीर के आरंभक थे ये अब करण नहीं हो सकते जब तत्व ज्ञान हो गया तो जो धर्म अधर्म जो पुण्य पाप जितना का जितना ज्ञान से अतिरिक्त जो साथ है यही सब हमारे किसके कारण है जन्म के कारण है वो कहना अब नहीं होगा नाम अकरण प्राप्त हो धर्मादि अब अकारण को प्राप्त हो गए अब कारण नहीं बन पाएंगे तब फिर कैसे रहता है तो ये देना दृष्टान्त तिष्ठति संस्कार बसात जैसे यह पंखा चल रहा है हम कुछ दाबेंगे थोड़ी देर चलता रहेगा इसी को बोलते हैं संस्कार बेग इसी को बहुत जगह देते हैं बाणु मन इसुक्त क्षेपण भत्त इसे ईसु माने बाण को छोड़ा जाता है हाथ से निकल गया और लक्ष्य तक जाएगा अब कोई रोक इसी का नाम है प्रारब्ध कर्म जो फल देना आरंभ कर दिया है जब फल देना है तो फल दे करके ही समाप्त हुए स्वभाव है कर्म का इसका मतलब है कि प्रारब्ध कर्म भोग से नष्ट होते हैं और संचित और क्रियमाण कर्म ज्ञान से वही कहने जा तिष्ठति संस्कार वसात उन्होंने संस्कार के वसात जैसे वो कैसे दृष्टान दिया चक्र भ्रमी व्रत धृत शरीर ये चक्र है सूच करने पर थोड़ी देर वो चक्र घूमता रहता उसकी भ्रमी रहती उसमें उसी तरह चक्र के भ्रम की तरह या जो व्यक्त अव्यक्त ज्ञा का जो विवेक ज्ञानी जो पुरुष है उसका तब तक शरीर रहता किसके कारण संस्कार बसात तिष्ठति धत शरीर तत्व साक्षात्कार उदयादेव जिनका तत्व साक्षात्कार जो उदय हुआ अनादि ही अनियत विपाक कालोपी जो अनादि समय चला रहा है कब पुण्यों का उदय हुआ कोई नियत नहीं अनियत विपाक माने कोई नियत नहीं ऐसे अनियत विपाक काल वाला कर्म आशय प्रचय दग्ध बीज भावत जो कर्म के आशय का जो इकट्ठा था तो शरीर आदि के उसका जो बीज था वो दग्ध हो चुका है दग्ध होने से अब दूसरा जन्म नहीं होगा ना जाति उपभोग लक्षणाय फलाय कल्पते उसका जन्म उपभोग लक्षण फल के लिए समर्थ नहीं होता है क्यों तो लिखने जा रहे हैं क्लेश सलिलाऊ क्लेश सलिलो कायाम भी बुद्ध भूमऊ अविद्यास्मिता स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेश ये योग सूत्र इनका नाम क्लेश यही जो क्लेश है कैसे क्लेश है सलिल माने संस्कार सहित कायामी बुद्धि भीमो कर्म बीजान अंकुरम प्रोसते जो हमारी आसक्ति युक्त जो बुद्धि है उसी बुद्धि में वह कर्म के बीज के अंकुरों को पैदा करते हैं सभी नहीं करते यहाँ दो कर्म दो वचन का वाचन प्रसूते प्रसूवते प्रसूवते कहाँ करो प्रसूवते चलिए उन्होंने कहा कि कर क्लेश कर्म क्लेश वही कहने जा रहे हैं क्लेश सलिलावशक्ति कायाम बुद्धि भूमौ कर्म बीजान अंकुरम प्रसुवते क्या कह रहा है प्रसुवते सूयते क्या होता है प्रसुवते ठीक है वही कहने जा एक मिनट प्रसुवते कहाँ का भैया सलिलाव शक्तिकायाम बुद्ध जो क्लेश से पंच क्लेश से युक्त है और धर्मा धर्म से जो युक्त बुद्धि है उसी बुद्धि में क्या होते हैं ऐसी बुद्धि भूमि में बीज के अंकुर बीजान कर्म बीजानी अंकुरम प्रसूते जो कर्म बीज हैं वो क्या करते हैं अंकुरम प्रसूते कर्म बीज माने धर्माधर्म वैराग्य आदि ये कर्ता हो गया कर्म बीजानी अंकुरम प्रसूवते माने ऐसी जो पंच क्लेश से युक्त बुद्धि है और दूसरे दोषों से युक्त बुद्धि है उस बुद्धि भूमि मन बुद्धि भूमि में ही कर्म का जो बीज है वह अंकुर में संसार को पैदा करता है तत्व ज्ञान निदाघ निपीत सकल क्लेश सलिजायाम ऊसरायाम कृत अब बड़ी सुंदर भाषा में देने जा रहे हैं क्या कहने जा रहा है तो कहने जा रहे हैं कि जैसे तत्वज्ञान रूपी जो नदी है उसका निदाग जो जल में भारी निवीत सकल क्लेश में संपूर्ण क्लेश उसके समाप्त हो चुके हैं सल, ऐसी जो सलिल है ऊसर आया वह कैसा सलिल हो गया एकदम ऊसर भूमि की तरह मैं उसमें कुछ पैदाइश की जो गात ने कुतः कर्म बीजान अंकुरम प्रसवा कर्म बीज है वो अंकुर को कैसे पैदा करेगा अथा नहीं कर सकता है तदम उत्तम धर्मादि नाम अकर्ण प्राप्त हो जो धर्म आदि है वो किसको प्राप्त हो गए हैं अकर्ण को प्राप्त हो गए हैं अब वो कर्ण किसी के नहीं बन सकते हैं उसी के लिए कहने जा रहे हैं अकर्णत्व प्राप्त इत्यर्थ उत्पन्न ही तत्व ज्ञाने पी कहे तत्व ज्ञान हो तो मर जाना चाहिए कहे तत्व ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी संस्कार वसात तिष्ठति संस्कार कैसे यथा उपरते पी कुलाल व्यापारे चक्रम इसे कुलाल ने इसे घुमाया डंडा से डंडा रख दिया चक्र घूमता रहता जैसे उस कुलाल के दंड ने व्यापार करना बंद कर दिया उसमें वही चक्र होता था फिर भी चक्र घूम रहा जैसे यहाँ हम लोग कहते बंद कर दिया वही कहने जा रहे हैं यथा उपरति कुलाल व्यापार माने कुलाल की व्यापार की समाप्त हो जाने पर भी वो जो चक्र है और वेगाख संस्कार अवसात एक वेगाख नाम का संस्कार आता है कई प्रकार का है संस्कार तीन प्रकार वेग भावना इसी स्थापक तो वही बीग आकर जो संस्कार है जैसे वहाँ गुरुत्वाकर्षण से पत्ता गिरता है फिर बीग से नीचे आता है वही कहने बेगाक संस्कार बसात भ्रम तिष्ठत जैसे भ्रमी रहती है काल परिपाक बसात जब उसका समय आता है तो शांत हो जाती है उसी का नाम है काल परिपाक बसात उपरते संस्कार या संस्कार समाप्त हुआ तो वह चक्र निष्क्रिय हो जाता है उसी प्रकार शरीर स्थित प्रारब्ध कर्म परिपाक शरीर के स्थिति में प्रारब्ध कर्मों का परिपाक कारण है तो कौन सा चीज है धर्म संस्कार मानी शरीर की स्थिति में दो चीजें होती हैं धर्म और धर्म दोनों का मेल ये प्रारब्ध का परिपाक जो धर्म जो संस्कार उन संस्कारों को भोगे नहीं वो छेतव्या मान या जो प्रारब्ध कर्म रूप जो धर्मा धर्म संस्कार है उसको भोग से ही शांत होता ब्रह्म ज्ञान से अथवा व्यक्ता व्यक्त इस प्रकृति पुरुष और विकृति के ज्ञान से जाता नहीं है तथा चा अनुसूयते ये ब्रह्म सूत्र का दे रहे चौथे अध्याय में सूत्र है भोगेन तो इतरे छपयित्वा अत संपद्यते इतरे आचार्या मैंने मतलब जब मुक्ति के उत्तर काल का वर्णन आता फलाध्याय में ब्रह्मसूत्र में कहते हैं इतरे आचार्या भोगे न छपयित्वा मान भोग के द्वारा इन प्रारब्ध कर्मों को नाश करके अत संपद्यते तदा वो मुक्ति उनको प्राप्त होती है यस तस्य तावत एव चरम यावत न संपत्यते उसको उतना ही विलम्ब जब तक कर्मों का नाश नहीं होता प्रारब्ध का तथा चानुश्रूयते ये होगा ब्रह्म सूत्र अय लिखने जा रहे छांदुग श्रुति तस्य तावा देव चरम यावन न विमोक्षता तभी तक उस व्यक्ति को विलंब है जब तक उसको क्या होता है विमोक्ष नहीं होता जो वही लिखा भोगे न इतरे यहाँ भोग के शब्द है इतर से दो लेना पूर्ण पाप इतर शब्द से क्या लेना है पुण्य और पाप माने इत, इतरम नपुंसकलिंग में इतरम इतरे इतराणी इतरे पुण्य पापे माने भोग के द्वारा जो इतर जो पुण्य पाप हैं उनको नाश करके फिर उसको मुक्ति मिलती है ऐसा कहते हैं तस्य तावदे चिरम उस ज्ञानी का तब तक ही विलम्ब चिरम माने विलम्ब है यावन ना विमोक्ष संपत्ति जब तक शरीर माने जब तक प्रारब्ध कर्म से विमुक्त नहीं संपन्न तब तक शरीर रहता है इति प्रक्षीयमाण अविद्या विशेष संस्कार जो नष्ट होने वाली जो अविद्या विशेष है उस संस्कार के कारण पड़ी रहती है तद वसात तत् सामर्थ्यात उस अविद्या रूपी सामर्थ्य से वह ब्रह्म ज्ञानी अथवा व्यक्त अव्यक्त ज्ञाया इस तीनों का जो ज्ञान सांग शास्त्र के अनुसार जो ज्ञानी है विवेकाख्याति संपन्न जो पुरुष है उसका शरीर रहता है इस प्रकार से सड़सठ कारिका संपन्न हुई अब अड़सठ कारिका शुरू कर रहे हैं यदि संस्कार विशेषा धत शरीरा तथापि कदाश से मोक्ष भविष्य क्या अभी शरीर संस्कार के साथ बना है कब तक रहेगा मोक्ष कब मोक्ष होगा फिर चल करके उस पर संदेह पर लिखने जा कदा अस्य मन व्यक्ता व्यक्तज्ञ पुरुष से मोक्षो भविष्य प्राप्ति शरीर भेदे जिस भेदे मन ना से जिस समय शरीर का नाश होगा वही कार्यकाल में प्राप्त शरीर भेदे चरितार्थत्वाद प्रधान विनिवृत्ते ऐकांतिकमाप्यांतिकम कैवल्यम आपनोति इन्होंने कहा शरीर भेदे प्राप्ते माने जो शरीर का भेद माने विनाश शरीर के भेद की प्राप्ति माने विनाशे सत्य जब यह शरीर छूट जाएगा और प्रधान विनिवृत्ति ही चरितार्थत्वाद अप्रधान पहले से निवृत्त चरितार्थ हो गया है अतः एकांतिक मन अवश्य संभावी आत्यांतिक अविनाशी उभयम इस प्रकार का उभय स्वरूप जो हमेशा रहने वाला कभी ना विनष्ट होने वाला ऐसा जो कैवल्य जो मोक्ष है उसको प्राप्त करता है कैवल्यम प्राप्त नोती मैंने आप नोती अनारब्ध विपाकायाम तावत कर्माशयानाम तत्वज्ञान अग्निना बीज अभाव दग्धा जिन जिन अनारब्ध विपाक जिन्होंने अभी आरंभ नहीं किया है फल देना उनको बोलते हैं अनारब्ध विपाक जो कर्म तावत कर्माशया नाम उन जितने जो कर्माशय हैं उनका क्या कर दिया तत्व ज्ञान अग्निना बीज भावो दग्धा तत्वज्ञानी ने भविष्य माने संचित और क्रियमाण जो कर्माशय जो कर्म है उनके बीज का नष्ट कर दिया और नष्ट बीज से वृक्ष उत्पन्न नहीं होता भूजे बीज से सृष्टि नहीं होती है तो उन्होंने कहा तत्व ज्ञान अग्निना तत्व ज्ञान अग्नि रूपी बीज से उसने क्या कर दिया उनको नष्ट कर दिया नाश हो गया ज्ञान अग्नि के द्वारा अब संपूर्ण कर्मों का जब दग्ध हो गया तो वह क्या नहीं कर सकते हैं सृष्टि नहीं कर सकता वही बीज भाव दग्ध हो गया ये हो गया तत्व ज्ञान से दो कर्मों का बीज भाव दग्ध हो गया जो कौन है एक संचित और क्रीमा बचा प्रारब्ध प्रारब्ध विपाका नाम उपभोगी न क्षय प्रारब्ध कर्मों का सब भोग से क्षय हो गया सती प्राप्ति शरीर से भेदे बिना से प्राप्ति मान शरीर का जब भेद मान विनाश होगा चरितार्थत्वाद करना कृत प्रयोजनत्वात प्रधान का जो प्रयोजन था मुक्ति कराना वो करा दिया इसलिए तम पुरुषम प्रति विनिवृत्त हो उस पुरुष के प्रति प्रधान हट जाता है हर एक पुरुष के लिए नहीं है उसी पुरुष के लिए प्रधान हट जाता है जो मुक्त हुआ है उस पुरुष को एकांतिक अवश्य संभावी और आत्यांतिक माने अवश्य अविनाशी उभयम कैवल्यम मन दुखत्रय विगमम प्राप्त होती तीनों दुखों के अभाव को प्राप्त कर लेता है कौन पुरुष इस प्रकार से मोक्ष पर्यंत चला गया पूरा जो सांग शास्त्र का प्रतिपाद्य था कि दुखत्रय की निवृत्ति बता दी अब इसके बाद जो यहाँ अड़सठ उनहत्तरवी कारिका से लगा करके अपनी परंपरा का निरूपण करते हैं कि यह जो ज्ञान हमने निरूपण किया वह अपने ईश्वर के समय हमने अपनी इच्छा से नहीं किया आदमी जब कोई पढ़ता है कहता हमारे गुरुजी ने पढ़ाया हमारे गुरुजी को गुरुजी ने पढ़ाया तो छात्र को उसमें श्रद्धा हो जाती है क्या हो जाती है श्रद्धा वही बात लिख रहे हैं इसलिए अब उनहत्तरवी कार्य का आरंभ करते हुए लिख रहे हैं आचार्य प्रमाणेन उपादि देपी यदि हमने प्रमाण पूर्वक सब यह तत्व ज्ञान उत्पादन कर दिया है कार्यकाओं से तथापि अत्यंत श्रद्धोत्पादनाय मैंने पढ़ने लिखने वालों का अत्यंत श्रद्धा इसमें उत्पन्न हो जाए संघ शास्त्र में परम परमर्थी पूर्वक महाय जो तत्व ज्ञान है इसका निरूपण भगवान कपिल ने कहा था उसी बात को ईश्वर कृष्ण ने कहा तो क्या हो जाएगा प्रामाणिक हो जाएगा वही कहे पुरुषार्थ ज्ञान मिदम गुह्यम परिमर्शना समाख्यातम स्थितुतपत्तिप्रलयाश्चिन्त्यन्ते चिन्त्यन्ते यत्र भूतानाम् काय की परमर्षिणा समाख्यातम परम भगवान ईश्वर कृष्ण के पहले कौन परमर्षि हुए कपिल जी कपिल जी ने क्या कहा है इदम पुरुषार्थ ज्ञानम गुह्यम समाख्यातम इधजा जो पुरुषार्थ था क्या था भोग और अपवर्ग मोक्ष इस गुह ज्ञान को उन्होंने निरूपण किया है और क्या निरूपण किया है यत्र यश्याम स्थित किम किम भवती भूतों की उत्पत्ति जहाँ होती है भूतों की स्थिति जहाँ होती है और लय जहाँ होते इसका भी उन्होंने क्या किया है चिंतन किया है इति चिंतनते मुखेन महारिषिना तृतीया का महारिषिना समाख्यातम महारिषिना चिंत्यंते किम चिंत्यंते भूतानाम उत्पत्ति स्थिति और प्रलय गुहम गुहा निवास हृदय कहते हुआ जो निवासी जो ज्ञान गुह्य माने गुहायाम भवाद गुह्यम माने हृदय देव इस गुहा निवासी स्थूल ध्याम दुर्बोधम अत्यंत गुहा में जो छिपी वस्तु को जो मोटी बुद्धि वाले नहीं समझ पाते हैं इसलिए उन्होंने कहा गुह्यम स्थूल बुद्धि वालों को दुर्बोध है परम अर्षिणा कपिले न का तामेव श्रद्धाम आगमिक न दृढ़यती उसी श्रद्धा को आमन आगमन शब्द प्रमाण के द्वारा क्या करना जा रहे हैं दृढ़ कर रहे हैं आगमिक माने शब्द प्रमाण आगम जैसे क्या उत्पत्ति स्थित उत्पत्ति लयास भूता नाम यत्र ज्ञाने एक है क्या है चरमण हाँ कुंजरार्थम चरमण द्वीप हंती दंत और हंती कुंजरम के शेष हंती चमरी और पुष्कलो हता कालिका क्या है ये तो उदाहरण है क्या है के लिए जो वस्तु हो तो उससे सप्तमी हो जाता है चरमण द्वीपनम हंती चरमणम द्वीप चर्म के प्रयोजन से दीप को मार चरमणी में क्या हो गया सप्तमी हो गई दंतयोर हंति कुंजरम दंतियों में सप्तमी हो क्या मार रहा है दंत के लिए कुंजर को मैंने फल में सप्तमी होती है उसी यहाँ यत्र ये ज्ञान में है कि ज्ञान जहाँ पर होता है यदार्थम मान ज्ञान मान यदार्थम जिस ज्ञान के लिए उत्पत्ति स्थिति लय का चिंतन किया गया है दृष्टांत दिया चरमण द्वीपनम हंति इति ये जो चरमण द्वीपनम हंति में चरमण के लिए द्वीपी को मारा जाता है उसी प्रकार समग्र सृष्टि किसके लिए की जाती है ज्ञान के लिए भूतानाम कितना सुंदर व्याकरण पढ़े लगा दिया उदाहरण भूतानाम प्राणिनाम स्थिति स्थिति उत्पत्ति प्रणया आगम ही चिंतनते मैंने भूतों की प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति का लय का चिंतन महर्षि लोग शास्त्रकार आगम मन शास्त्रकार लोग क्या करते हैं चिंतन करते हैं अब आए सदेता अब सत्तरवीं कार्य का उपक्रम कर रहे हैं सिया यद परमर्षिणा साक्षात कर जो उन्होंने सूत्र कहे थे साक्षात उन पर श्रद्धा होगी कि ये इसमें श्रद्धा होगी वही कहने जा रहे हैं यद परमर्षिणा साक्षात कथितम तत्श्रद्धि श्रद्धि मही हम लोग उसमें श्रद्धा वयम श्रद्धी मई उसमें तो हम श्रद्धा करेंगे यत तो पुरुष यत पुनः ईश्वर कृष्ण ने कथितम तो ईश्वर कृष्ण का उसमें हम क्यों श्रद्धा करेंगे तो ने कहा उसमें श्रद्धा करेंगे दूसरे ने कहा हम लोग क्यों श्रद्धा करें तत्र कुता श्रद्धा उसमें कैसे श्रद्धा हो गई अरे वही बात उन्होंने व्याख्या में कही है इत्यत आह किम पवित्र मग्रम मुनि आसुरवी अनुकंपया रपि पंच शिखाया तीन बहुधा कृतम तंत्रम इन्होंने कहा सबसे पहले महर्षि कपिल ने किसको दिया अपने उनके शिष्य थे एक आसुरी नाम के शिष्य थे आसुरी नाम के एक उनके शिष्य थे उनको उन्होंने वही कहा एतद पवित्रम ज्ञानम ये जो पवित्र सांग शास्त्र था इस ज्ञान को किसको उन्होंने दिया आ मुनि माने वो कपिल मुनि कपिल मुनि ने आसुरई अनुकंपया प्रदधु मान असुरी असुरी असुरी नाम के अपने शिष्य को कृपा करके दिया अनुकंपा करके दिया उसने क्या किया अपने शिष्य को दिया आसुरी रपिन पंच शिखाया पंच शिखा नाम का जो उनका शिष्य था जो ष्टी तंत्र के प्रणेता है अनेक उन्होंने निबंध लिखे हैं इन्होंने कह रहा है पंच शिखाया तीन मन आसुरी रपि पंच शिखाया अनुकंपया प्रदू उसने आसुर जी ने अपने शिष्य को कृपा करके दिया पंच सिखा और पंच सिखा ने क्या किया तीन बहुधा कृतम तंत्रम उन्होंने बहुत पुस्तक में विस्तार कर दिया क्या कर दिया वही तंत्रम बहुधा अनेक प्रकार से निरूपण किया उसी अब कारिका का व्याख्यान कर रहे हैं एतद पवित्रम पावनम या जो पवित्र तीनों दुख के नाश का जो हेतु दुखत्र हेतु हो पापनम जो दुखत्र हितरु जो पाप है उसको पवित्र करने वाला नाश करने पुनात पुण छेदने दोनों उनका छेदन करने वाला है अग्रम सर्वेभ्या पवित्रेभ्या मुख्यम जितने पवित्र लोग थे प्राणी उन सब में मुख्य सबसे पहले अग्र जो ज्ञान था वो किसको दिया गया था आसुरी को किसने दिया था महर्षि कपिल ने मुनि कपिला असुरये आसुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंच शिखाय दिया तेन च पंच शिखाचार्य च बहुधा कृतम तंत्रम बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने इस ज्ञान को लिखा पंच शिखा ने उनका एक नया ष्टी तंत्र प्रणेता है पंच शिखा उसने बहुत चीजें लिखी है अब कह रहे हैं अब इसके बाद इकहत्तरवीं कारिका लिख रहे हैं शिष्यपरम्परया अवगतम् शिष्यपरम्परया गतमीशरकृष्णेन तत्संक्षिप्त मार्यमतिना सम्यक् विज्ञाय सिद्धांतम क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे शिष्य परम जरा अवगतम ईश्वर कृष्णेन ईश्वर कृष्ण इस शिष्य परंपरा तक आ गए जैसे वेदनादि है यहाँ तक आ गए हम लोग पढ़ लिए उसी प्रकार शिष्य परंपराया अवगतम के न ईश्वर कृष्ण न इस ज्ञान को ईश्वर कृष्ण ने परंपरा से प्राप्त किया और फिर क्या किया ये आर्या छंद है तो इसलिए आर्या भी छंदो भी करतम संक्षिप्तम कैसी मती आर्यमती मन ऋषि आर्य मन ऋषि भी होता है माने ऋषि मति के द्वारा माने बड़ी सुंदर बुद्धि की तो आर्य मति ना सम्यक विज्ञाय सम्यक ज्ञान कराने के लिए अथवा सम्यक विज्ञाय अथवा सम्यक जान करके अपनी बुद्धि से सिद्धांतम लिखितम सिद्धांत लिखा आरात याता तत्व्यायति आर्या मैंने ज्ञानियों के द्वारा से आरात मैंने शीघ्र जो प्राप्त हो जाता उसको बोलते हैं आर्या आर्या मतिर्यस्य सो आर्यमति मतलब जो ऋषि प्रसूत जिसकी बुद्धि हो गई है ऐसे आर्यमति वाले कौन है ईश्वर कृष्ण हैं उन ईश्वर कृष्ण ने आर्या छंद के द्वारा इन सब का लेखन किया अब बहत्तरवी कार्य का लिख रहे हैं ए तच्च शास्त्र सकल शास्त्रार्थ सूचकत्वात् एक प्रकरण ग्रंथ होता उसे कहते हैं शास्त्र एक देश संबद्धा जहाँ शास्त्र की एक देश का निरूपण होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रकरण ग्रंथ ये तो पंचदशी इत्यादि सब क्या प्रकरण ग्रंथ है तो ये कह रहे हैं प्रकरण ग्रंथ नहीं इसमें समग्र निरूपण है इसलिए प्रकरण ग्रंथ नहीं सिद्धांत ग्रंथ है वही कहने जा रहे हैं कि शास्त्रम सकल अर्थ सूचकत्व सकल अर्थ का सूचक हमारा कौन सांग तत्व यह सांग यह है संग तत्वकारी का है इसलिए कहने जा रहे हैं सकलार सूचक ना प्रकरण ग्रंथ प्रकरण नहीं है इत्यता सप्त्याम किल सप्तती माने होते सत्तार सत्तर तक तत्व का निरूपण किया है ये लिखा सप्त्याम किल ये अर्था अथवा सप्तती नाम का एक ग्रंथ है इनका उस ग्रंथ में जो अर्थ कहे गए वही अर्थ यहाँ भी कहने जा रहा है सप्तत्याम के लिए अर्था ते अर्था जो सप्तती नाम के ग्रंथ में जो अर्थ थे अथवा सप्तती नाम के अर्थ ठीक है आ उसके बाद कहा होने जा रहा है ये अर्था ते अर्था कृष्ण से ष्टी तंत्र से और जो अर्थ पंच शिखा ने बनाया कौन ग्रंथ ष्टी तंत्र ग्रंथ वो जो ष्टी तंत्र ग्रंथ के जितने अर्थ थे आख्यायिका विरहिता इसमें कथा कहानी नहीं आई तत्व का निरूपण है ये नहीं कि एक राजा था फिर यह था ऐसा नहीं लिखा है ये लेकिन इसको बोलते आख्यायिका विरहिता और परवाद विवर्जिता कोई यहाँ झगड़ा झंझट की बात भी नहीं है निंदा इत्यादि भी इसमें नहीं की गई किसी की इसलिए परिवाद विवरता ये श्लोक है तत्र राजवार्तिकम किसी आचार्य की वार्तिक इसका नाम राजवार्तिकम प्रधानास्तित्वमेकत्वम् अर्थतत्व अथान्यता पारार्थञ्च तथा नैक्यम वियोगो योग एव च शेषवृत्तिः अकर्तृत्वम् मौलिकार्था स्मृता दस ये कह रहे हैं मौलिक दस अर्थ हैं प्रधान का अस्तित्व माना वह प्रधान एक है अर्थवत्व है और अथ अन्यता उसमें भेद है पारार्थ है और अनैक्य जीव है पहले वियोग होगा योग वियोग के लिए होता है योग किस लिए होता है वियोग के लिए और शेष वृत्ति ही और अकर्तृत्व ये क्या है मौलिकार्था विपर्य मान अज्ञान पंच विधा विपर्य पीछे आया था उसी लिखा विपर्या पंच विधा कहा गया तथा उक्ता नवतुष्टया आध्यात्मिक्या चतस्रा बाह्या पंच इतनी तुष्टि हो गई नौ उनको कही गई है कर्णा नाम असामर्थ्यम जो कर्ण इंद्रियों की जो असामर्थ्यता एक बिंद से विकल हो जाना बाधिर्यपन और वही कह रहे करणा नाम असामर्थ्यम विंशति धा मैंने अट्ठाईस था इस सब का सब का गया इस बिना कर सष्टी तो हो जाएंगे इतने सब गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे बिना करके साठ हो जाएंगे इति ष्टी नाम अष्टाभीसा सिद्ध भी जो हमारी आठ सिद्धियों उनको मिलाकर कितने पदार्थ हो जाते हैं सब ष्टी इसके नाम हो जाए ष्टी ग्रंथ हो गया ष्टी तंत्र नाम पड़ गया क्या नाम पड़ गया उसका ष्टी तंत्र नाम पड़ गया क्या पड़ गया ष्ट इस प्रकार जितने भेद बताए हैं इसलिए इसका ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया ष्ठी तंत्र और हाँ, वो किसने लिखा ष्टी तंत्र ग्रंथ पंच सिखा ने वही कह रहे हैं ष्ठ तंत्र इति सह सायम ष्टी पदार्थी कथिता इसको ष्टी पदार्थी कहते हैं सकल शास्त्रार्थ कथनात् मैंने संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को कहने कारण न इदम प्रकरण ग्रंथ प्रकरण नहीं है अपितु तो शास्त्र में वैदम ये शास्त्र ही है शास्त्र का एक देश नहीं है एकत्व अर्थवत्व पारार्थ्यम प्रधानम अधिकृत्युक्तम मान एकत्व का अर्थवान का दूसरे प्रधान को लेकर के कहा गया प्रधान अर्थवान एक है पुरुष नहीं है ऐसा है ये लिखा प्रधान को लेकर ये बात कही गई है अन्यत्वम अकर्तृत्व बहुत्वम जय पुरुष को लेकर हमने कहते हैं भी कर रहा है कि एकत्व अर्थवत्व पारार्थ यह प्रधान का धर्म है अन्यत्व मन भेदमान अकर्तृत्व और बहुत्व ये पुरुष को लेकर कहा गया है अस्तित्व वियोग योग ये दोनों को ले दोनों में अस्तित्व है दोनों का वियोग है दोनों का उभय अधिकृत स्थितम स्थूल सूक्ष्म अधिकृत स्थूल और सूक्ष्म को लेकर के स्थिति कही गई है अब अपना श्लोक लिख रहे हैं सांख तत्व कौमदीकार मनांसी कुमदान इव यहाँ बड़े बड़े सब हम लोगों के मन कैसे हैं कुमुद की तरह कुमुदान कुमुद माने पुष्प की तरह कुमुदान इव बोधयंती जैसे कुमुद को बोध कराने वाली कौमदी है चंद्रमा उसी प्रकार मन मनया कुमुद रूपी है बोधयंती मन सताम मनांसी कुमुदानी बोधयंती सताम मुदा श्रीवाचपत्ति मिश्राणाम कृति ही ता कृतिस्ता तत्व कौमदी क्या लेंगे तात तत्व कौमदी उन्होंने कहा मुदा सताम मुदा मनांसी कुमुदान इव बोधयंती माने याग हमारी जो बाचस्पत मिश्र कृत जो कृति है वह कैसी कृति है बाचत पति मिश्राणाम कृति ही बाचत पति नाम के जो मिश्र नाम के जो आचार्य माने अपने का नाम ले रहे हैं उनकी द्वारा कृति बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं एकत्वन प्रयुंजीता गुरु आत्मन चेश्वरी इस वचन का स्मरण करते हुए वचन कर रहे हैं कि बाशतपति मिश्र के द्वारा कृति मैंने बनाई गई जो यह तत्व कौमदी है क्या हो सताम सज्जना नाम मनांसी बोधयंती मैंने बोध कराती हुई कुमदान कुमद को कौमदी कराती मुदा मन प्रसन्नता पूर्वक या क्या करती है तत्व कौमदी संपूर्ण बड़े बड़े विद्वानों की मनो को रमण कराने वाली है इति षड दर्शन टीका कृत वाचस्पति मिश्र विरचिता सांस तत्वकोमदी तत्सत